तुल्यं निरन्तर्युतम् पश्यन्नात्मयावधिरोभूतं यतो यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवात्म्यम्

लोगों के मन में कुछ ऐसी ही शांत धारणाएं बैठ गए कि वे केवल वेदांत का ही निरूपण करते हैं जब हम उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ही बारम्बार भक्ति का और विष्णु का उल्लेख मिलता है जैसा राम शिलायाम विष्णु उत्पत्ति संभवाधिकरण में उन्होंने भक्ति के सब अंगों का निरूपण किया है कैसे पूजा करनी चाहिए भगवान की उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मंदिर में कैसे जाना चाहिए जो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ही है गीता पर भाष्य प्रारंभ करते हुए उन्होंने सबसे पहले नारायण का स्मरण किया था नारायण अव्यक्त अव्यक्तानंद संभव जहाँ गीता में भक्ति का निरूपण है जहाँ कर्तव्य कर्म का निरूपण है वहाँ पूर्ण रूप से उन्होंने उसको विशद किया है और उसकी व्याख्या की है बहुत से छोटे छोटे उन्होंने स्त्रोत्र लिखे हैं जो जन साधारण के बहुत काम की वस्तु है कई स्त्रोत्र तो ऐसे हैं कि वृद्ध को इसका पाठ करना चाहिए बच्चे को इसका पाठ करना चाहिए विद्वान को इसका पाठ करना चाहिए साधारण जन को इसका पाठ करना चाहिए सार्वजनिक और सार्वलौकिक दृष्टि रख के ही उन्होंने गणेश की वंदना देवी की वंदना सूर्य की वंदना श्री कृष्ण संबंधी स्त्रोत्र यमुनाष्टक गंगाष्टक सभी विषयों में उन्होंने श्री कृष्ण संबंधी तो ग्रंथ ही है उनके सही तो जो लोग ये भ्रांत धारणा रखते हैं या भ्रांति फैलाते हैं कि शंकराचार्य कर्तव्य कर्म के विरोधी हैं या हस्ती के विरोधी हैं वे एक झूठ मूठ की अफवाह फैलाते हैं दुनिया उनके जैसा सार्वभौम दृष्टि रख करके बोलने वाला आचार्य दुर्लभ ये जो सप्तदी स्त्रोत्र है छह तो मूल के श्लोक है और सातवां उपसंहार है सातवें श्लोक में छह पद ऐसे हैं कि जिनको पूरी शक्ति याद न हो और उनको याद करने तो चलते फिरते उठते बैठते मंत्र की तरह उसको बोल सकते हैं नारायण करुणामय शरण करवाणी तावकौ चरण छह पद है नारायण एक करुणामय दो शरणम तीन करवाण चार तावकव पाँच और चरण छह ये एक मंत्र बन बनता है नारायण करुणामय शरणम करवाण तावकव चरण हे करुणामय नारायण मैं तुम्हारे चरणारविंद की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि सतपदी मदीय वदन सरोजे सदा वसतो ये जो छह पद है नारायण करुणामय छह पद है ये सतपदी है माने छह पदों का समूह है और संस्कृत भाषा में सतपदी बोलते हैं भ्रमरी को जो स्त्री जाति का भ्रमर है उसको बोलते हैं सतपदी तो ये छह पद क्या है ये भ्रमरी के समान है और मेरे मुख कमल में ये सदा निवास करें हमारे चलते फिरते सोते खाते पीते सदा बसतु का अर्थ है हर समय ये हमारे मुख में निवास करें छह श्लोकों के बाद सातवें श्लोक में एक छोटी शब्दी अर्थात मंत्र रूप में उन्होंने छह पदों का संयोजन कर दिया है अब हम आपको पहले पद से आरंभ करके सुनाते हैं अभिनय अपनय विष्णु रमय मन समय विषय मृग कृष्ण भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागर ये सप्तदी का पहला पद है पहला श्लोक है इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सर्वव्यापी प्रभु हमारे जीवन में जो अभिनय है उसको दूर करो मन विनय जो है वो जीवन का एक आवश्यक अंग है एक होता है मन में अभिमान और एक होता है विनय अभिमान जो आता है वो बिना विचार के आता है सोच विचार के कोई अभिमान नहीं करता है सोच विचार के करे तो अपने से बड़े विद्वान को देखे तो विद्या का अभिमान दूर हो जाएगा अपने से बड़े धनी को देखे तो धन का अभिमान दूर हो जाएगा और यदि सबसे बड़े परमेश्वर को देखे तब तो अभिमान के लिए जीवन में कोई स्थान ही नहीं रहे तो हमारे जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं वे भी कहते हैं कि जीवन में विलय होने से ही ठीक ठीक व्यवहार की व्यवस्था हो सकती है जो कौटिल्या शास्त्र के विशेष सूत्र हैं उनमें पहले विद्या धर्म और विनय की बात कही गई है विद्या तदापि विनयम जिसके जीवन में विद्या होती है उसके जीवन में विनय होता है विनय अभिमान को मिटाने वाली चीज है तो पहली बात तो ये है कि विद्वान अभिमानी नहीं होता विद्वान के जीवन में विनय नहीं होता है एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं इन्हीं के घर की बात है जिस जैसे हाउस में बैठ के हम बात कर रहे हैं इनके ही घर की बात है हम मोटर में साथ साथ चल रहे थे अब जो साधु मिल जाए रास्ते में सिर में तिलक हो तो गिरुआ कपड़ा हो तो माता जी नमस्कार करती हुई चलती हाथ जोड़ती चलती तो मैंने उनसे पूछा कि खड़िया पलटन के लोग दुकान पर बैठ के चाय पीने वाले मानने वाले इनको हाथ जोड़ने का क्या भाव है उन्होंने कहा कि महाराज लोगों को सिर झुकाने का हाथ जोड़ने का अवसर जीवन में बहुत कम मिलता है तो कोई भी मिले तो उसके सामने हाथ जोड़ते चलना या सिर झुकाते चलना ये अपनी आदत को अच्छी बनाने के लिए आवश्यक है एक एक के गुण और दोष को देख कर गुणी को प्रणाम किया जाए और दोषी को प्रणाम न किया जाए तो सबकी हिस्ट्री ठीक अपने दिल में खोलनी पड़ेगी ये गुणी है और ये दोषी है और जब आपके दो विभाग हो जाएंगे ये दोषी है ये धोनी है तो दोषी के प्रति द्वेष होगा और धोनी के प्रति राग होगा जब राग होगा मोहब्बत होगी तो उसका पक्षपात होगा और जब द्वेष होगा दिल में जलन होगी तो उसके प्रति नफरत होगी घृणा होगी इसलिए कौन कैसा है ये सोचे बिना ही अपने जीवन में विनय धारण करना आवश्यक है श्री उदय बाबा जी महाराज कहा करते थे ये हम जो दूसरों के सामने झुकते हैं या दूसरों की सेवा करते हैं इसमें केवल दूसरों का उपकार नहीं होता ये तो अपने प्रति उपकार करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है हम किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं ठीक है उसकी प्यास बुझती है पर पानी पिलाने की जो आदत हमारे जीवन में आती है वो हमारे लिए एक खजाना है तो हम अपने आदत को माने जो हम ग्रहण कर रहे हैं जिसका अभ्यास कर रहे हैं जो सीख रहे हैं जिसका आदान कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है इस पर ध्यान देना चाहिए तो विनय का मतलब केवल दूसरे को बड़ा बनाना नहीं होता है अपने हृदय में जो कठोरता है अपने हृदय में जो अकड़ है एकड़ी है घमंड है उसको दूर करना अपने लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है तो ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके घर में कौन आया यदि आपका दुश्मन भी आपके घर में आवे और आप उसको देखकर उठ के खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसको प्रणाम करें और मुस्करा के उससे बात करें और उसको अपने से ऊपर बैठाएं और उसका आदर करें तो ये नहीं कि वो बड़ा हो गया बड़ा तो वो होता है जो झुकता है न कच्चा उन्नत्य भवती शिरसत्व यवनति सिर झुकाने का अर्थ है ऊपर उठ जाने का मार्ग इसलिए अपने जीवन में आना चाहिए विनय पर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में अभिनय भरा हुआ है नींद टूटे सवेरे तो पहले उस भगवान का स्मरण करना चाहिए जिसने नींद में से तुमको जगा दिया ये हम लोग रोज रोज जागते हैं जग जाते हैं इसलिए एक मामूली बात मालूम पड़ती है साधारण बात मालूम पड़ती है कि हम नींद में से जग गए लेकिन एक बार नींद आने के बाद दोबारा उठना एक चमत्कार की बात है आश्चर्य की बात है रोज रोज देखते रहने के कारण अनुभव के कारण हम इसको आश्चर्य नहीं मानते हैं एक बार घनी निद्रा में लीन हो जाने के बाद हमारी शक्ति हमारा सामर्थ्य को ऐसा नहीं रहता कि हम स्वयं जाग जाए वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हमको उस घोर निद्रा में से जगाते हैं और ये इस बात का उदाहरण इस बात का संकेत है कि महाप्रलय की घोर निद्रा में भी जब हम सो जाएंगे तो वहाँ से भी भगवान हमको फिर भोग और मोक्ष के योग्य बनाने के लिए सृष्टि में ले आवेंगे और फिर हम जो चाहते हैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे और उत्तम से उत्तम गति और उन्नति प्राप्त कर सकेंगे तो नींद टूटते पहले जगाने वाले के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए वहीं सिर झुकना चाहिए कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करके हमारी नींद छोड़ दी उस समय भगवान का स्मरण करके आप मान लो पाँच मिनट नींद टूटने के बाद भगवान का स्मरण करो मान लो पाँच मिनट बाद ही उठे भगवान का स्मरण करो आप कुछ दिन अभ्यास करके देखो आपका दिन मंगलमय बीतेगा जागने के बाद जो मंगलमय प्रभु का स्मरण करता है उसका सारा दिन मंगलमय हो जाता है हम प्रातः काल उठ के जब श्री गणेशाय नमक करते हैं और बोलते हैं कुंड महाकाय सूर्य को भी समप्रभ कुरु में देव सर्व कार्य सर्वदा हमारे जो आज के काम हैं वे निर्विघ्न संपन्न हो श्री गणेश का स्मरण करके गुरुदेव का स्मरण करके मांगलिक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडली काक्ष मंगलायतनम हरे मंगल मंगल मंगल मंगल माने संस्कृत में होता है प्रगत आगे बढ़ना मधु धातु से मंगल शब्द बनता है उसका अर्थ होता है आगे बढ़ना हम आज अपने जीवन में आगे बढ़े जहाँ कल से उससे आगे बढ़ने के लिए मांगलिक स्मरण करते हैं मन से भगवान की पूजा करें तो कुछ लगता नहीं है ऐसे प्रातः काल का जो समय होता है उसमें जो नींद के समय निद्रा के समय वासनाएं सो जाती हैं तृष्णाएं शांत हो जाते हैं विक्षेप मिट जाते हैं उसका नशा जागने के बाद थोड़ी देर तक रहता है प्रार्थनाएं बहुत कम तृष्णाएं बहुत कम विक्षेप बहुत कम दुनिया की याद बहुत कम तो धीरे धीरे आते हैं इसलिए उस समय यदि हम भगवान का स्मरण कर ले तो बहुत बढ़िया होता है इसके सिवाय मनु जी का कहना है कि प्रातः काल ही आज क्या धर्म करना है ये पहले चिंतन करना चाहिए कि आज प्यासे को पानी पिलाना है भूखे को अन्न देना है नंगे को कपड़ा देना है रोगी को औषधि देनी है गिरे हुए को उठाना है पिछड़े हुए को आगे बढ़ाना है अज्ञानी को ज्ञान देना है एक प्रतिदिन को सी धार्मिक योजना बना लेना है फिर आज अर्थ संबंधी क्या काम करना है उसकी योजना भी प्रातः काल ही बन जानी चाहिए कि आज हमें ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय धर्मार्थावनुचित ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके दिन भर के धर्म संबंधी और अर्थ संबंधी काम का विचार कर लेना चाहिए आज अपने व्यापार में काम धंधे में क्या क्या करना है एक स्फूर्णा उसकी भी हो जानी चाहिए एक योजना उसकी भी ध्यान में आ जानी चाहिए एक संकल्प उसका भी बन जाना चाहिए उस संकल्प में पहले भगवान का स्मरण होता है और आज ये ये काम हमारा ठीक बन जाए इसकी प्रार्थना कर रहे हैं तीसरी बात मनुस्मृति में ये कही गई गायक क्लेशांश तन मूला धर्म का चिंतन अर्थ का चिंतन और हमारे शरीर में क्या रोग है और ये रोग क्या करने से बढ़ता है और क्या करने से घटता है उस रोग के बारे में स्वयं विचार करना चाहिए क्योंकि वैद्य लोग डॉक्टर लोग तुम्हारी अंतरंग स्थिति के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते तो ये रोग जो आते हैं इनमें पूर्व कर्म और पूर्व की वासनाएं तो थोड़ी हेतु होती ही है हमारे मन की वासनाएं भी हेतु होते हैं तो कप बात चिंत के प्रकोप से रोग होते हैं और अपने मन का काम न होने से अपनी इच्छा पूरी न होने से भी रोग होते हैं और इच्छा के विपरीत होने से भी रोग होते हैं और श्रम करने की जितनी शक्ति है उससे अधिक श्रम करने से भी रोग होते हैं तो मानसत्य प्रयाख्यान ही यदि आपके मन में कोई रोग है तो उसके लिए प्रिय से प्रिय भावना सीताराम के प्रेम की भावना राधा कृष्ण के प्रेम की भावना नारायण की कृपा की भावना अपने हृदय में आनी चाहिए मन प्रसन्न होने से शारीरिक स्वस्थता भी प्राप्त होती है और मन का विक्षेप भी दूर होता है तो प्रातः काल उठ के चार बार एक तो मंगलमय भगवान का स्मरण दिन भर के लिए धर्म कर्तव्य और अर्थोपार्जन और शारीरिक कष्ट के निवारण की बात ये चार वस्तु जो है ये पहले प्रारंभ में ही कर लिया जाए और जब धरती पर पांव रखते हैं तो हम लोगों को बचपन में एक श्लोक बताया गया था हमारे पितामा ने बताया था कि जब पहले पहल धरती पर पांव रखते हैं तो ये श्लोक पढ़ के रखते हैं आप श्लोक मत पढ़िए पर उसकी भावना पर ध्यान दीजिए समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में हे पृथ्वी माता आप भगवान की पत्नी हैं वही भूमिपति हैं वास्तव में आप भगवान की पत्नी हैं हमारी माँ है ये समुद्र का जो नीला नीला वस्त्र है उसको आप पहनती हैं नीली साड़ी पहनती हैं और ये जो पर्वत है ये आपके फल के समान है आप साक्षात भगवान की पत्नी हैं आपको मैं नमस्कार करता हूँ और पादस परतम क्षमस्व में मैं आपके ऊपर पाँव रखता हूँ माँ है माँ के ऊपर बच्चे पाँव रखते हैं परंतु आप इसको बुरा मत मानना हमारे इस अभिनय को क्षमा करना मैंने हमारे जीवन में वही से विनय की भावना प्रारंभ हो जानी चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं अभिनय अपनय विष्णु एक सर्वव्यापी प्रभु हमारे जीवन में जो अभिनय है उसको आप दूर करें अभिनय की चर्चा आपसे करें ये जो हम बैठ के तिनका तोड़ते हैं हाथ पर बैठे तिनका तोड़ दिया और कालीन पर बैठे उसके रेसे निकाल लिए बेमतलब अपने पाव को पटकते हुए धरती पर चलते हैं और रौदते हुए चलते हैं खाद पर बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि उसके टूटने उसके टूट जाने की परवाही नहीं रहती है जब कोई कपड़ा झाड़ते हैं तो उसमें से धूल उड़ के दूसरे की आंख में पड़ जाएगी उसका ख्याल नहीं रहता है तो ये जो हमारी चर्चा में जो दोष है ये सब के सब अभिनय है यदि हम इनको गिनावे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत कुचर करते हैं माने मतलब जैसे चूहा कागज को कपड़े को काटता है उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ऐसे बेमतलब दोष देखते हैं नारायण बड़ों के सामने पाव पर पाव रख के नहीं बैठा जाता वो अभिनय है उनकी ओर पीट करके नहीं चला जाता ये अभिनय है उनके सामने जोर से नहीं बोला जाता जोर से बोलना अभिनय है उनके सामने किसी के ऊपर क्रोध भी कर रहे हो अपराधी पर भी क्रोध कर रहे हो तो जब अपने से बड़ा आ जाए तो चुप हो जाना चाहिए उस बड़ों के सामने काम की क्रोध की जो चेष्टा है वो नहीं करना चाहिए सबसे अधिक अभिनय तो हम अपने साथ करते हैं अपने साथ क्या अभिनय होता है कि हमारी बुद्धि कहती है ये काम करना गलत है ईमानदारी के विरुद्ध है हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए और फिर भी जब हम वही काम करते हैं तो अपनी अंतरात्मा के प्रति अभिनय होता है और इस बात को हम भूल जाते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसको ईश्वर भी देख रहा है एक गुरु ने अपने शिष्य को एक नकली चिड़िया दी इसको वहाँ मार के आओ जहाँ कोई न देखे वो गया एकांत में जाके मार के लौट आया महाराज जैसी जगह मारा है जहाँ कोई नहीं देखता है अरे भाई कोई क्यों नहीं देखता है इसको तो तुम ही देख रहे थे दूसरे वहाँ बहुत से कीड़े मकोड़े थे पशु पक्षी थे वे देख रहे थे और कोई न रहा हो तो ईश्वर तो वहाँ था ना वो देख रहा था गलत बात है एक दिन दूसरे शिष्य को दिया ये चिड़िया बाहर के ले आ अब चिड़िया नकली थी जादू की थी वो घूम के बहुत देर के बाद आया और बोला महाराज कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ ईश्वर देख न रहा हो इसलिए मैंने तो मारी नहीं तो अब आप देखो कि ये बात हम लोगों को कितना ध्यान में रहती है कि ईश्वर के सामने हम अभिनय करते हैं तो हमारे विनय से विनय की भावना से चुत हो जाते हैं एक होती है नीति नय न्याय और एक होता है विनय ये न्याय से भी बड़ा है ये नीति से भी बड़ा है और जब हमारे जीवन में न नय रहा और न विनय रहा न नीति रही और न विनती रही दोनों जब हमारे जीवन से निकल गई तो हमारा जीवन कितना सूखा हो गया शुष्क हो गया रुक्ष हो गया हमारा जीवन अभिनय माने रूखा जीवन सूखा जीवन सूखा जीवन तो ये दूर कैसे हो इसके लिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आप भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में अभिनय भर गया है अपने प्रति भी अभिनय है ईश्वर के प्रति अभिनय है बड़ों के प्रति अभिनय है पेड़ पौधों के प्रति अभिनय है चलने फिरने में अभिनय है हमारे जीवन में अभिनय खराब हुआ है इसको आप अपनयन कर दीजिए दूर कर दीजिए ये हमारे जीवन में न रहे तो अपने दोष गुरुगुणों को समझना बड़ा कठिन होता है हम दूसरे के आंख में अगर थोड़ा सा टेढ़ापन हो तो उसको देख लेते हैं लेकिन अपने आँख में बहुत बड़ी कुल्ली हो टेढ़र हो तो उसको देख नहीं पाते हैं देवधर भी हंसते हैं कि गांव का शब्द में बोलता हूँ अब गांव में पैदा हुआ गंवारू लोगों में रहा तो शब्द कोई कोई आ जाता है तो नरक सरसम मात्राणी परत छिद्राणी पश्यती आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्चन नबी न पश्यती दूसरे के जीवन में सरसों के बराबर दाग हो दोष हो तो वो दिख जाता है लेकिन अपने जीवन में बेल के बराबर दोष हो तो वो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं अपने बारे में सोचते ही नहीं ऐसा लगता है कि दूध के खुले हैं हमारे अंदर कोई दोष नहीं है यही बात जैसे राजनीतिक पार्टियों में हो जाती है कि जो हमारी पार्टी में है वो दूध का धुला है और जो दूसरी पार्टी में है वो बहुत बुरा है अब पार्टी में होने से कोई अच्छा हो जाता है और कोई बुरा हो जाता है ऐसा तो नहीं है बुरा तो बुरा ही है अपनी पार्टी में हो तो भी और अच्छा तो अच्छा ही है दूसरे की पार्टी में हो तो भी तो हम अपने जीवन में जो दोष हैं उन पर दृष्टि नहीं डालते हैं तो आत्म दोष का जो निरीक्षण है वो हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए आवश्यक है हमारे अंदर गलती है और बहुत सी है तो उनको समझना और समझकर भगवान के सामने निवेदन करना पहली बात तो ये है कि यदि हम अपने दोषों को समझ लें तो समझने से ही वे कुछ कम होने लगते हैं जाने उसे ही कछु पापी ना सन पावही पर परितापी तो हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं अपनी हीनता अपनी दीनता को दूसरा कोई न समझे पर हमें तो समझना चाहिए ना तो पहली बात यह है कि अपने अंदर जो दोष है वो भगवान के सामने निवेदन करें ये प्रार्थना का पहला रूप है माने हमारे जीवन में अभिनय है दूसरी बात यह है कि भगवान में जो गुण है उनका चिंतन करें वे इतने कृपालु हैं इतने कोमल शीलवान हैं कि वे हमारे दोषों पर दृष्टि न डाल के हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे दोष को दूर करेंगे तो पहली बात यह है कि अपने दोषों का चिंतन हो और भगवान के गुणों का चिंतन हो और उसके बाद अभिलाषा हो कि हे प्रभु हमारे दोषों को मिलाकर मिटाकर अपने गुणों का अपने गुणों का विकास हमारे जीवन में करो तो भगवान में कैसे गुण हैं वाल्मीकि रामायण में जहाँ भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन है वो माता पिता के सामने कितने विनयी हैं भाई के सामने कितने स्नेहवान हैं पत्नी से कितना प्रेम है प्रजा के प्रति कितना अनुराग है अपने भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य है वो कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं कैसे बोलते हैं दुखी को देखकर उनके चित्त की वृत्ति क्या होती है ये भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए और फिर तो पहली बात हुई अपने दोषों को जानना और भगवान के सामने स्वीकार करना निवेदन करना दूसरा भगवान के गुणों को जानना और उनको अपने जीवन में लाने के लिए प्रार्थना करना और तीसरे भगवान का जो स्वभाव है सबके ऊपर कृपा करने का आप देखते हैं भगवान की धरती है जिस पर सबको रहने के लिए छुट्टी है जिसका हाउस टैक्स नहीं देना पड़ता भगवान के द्वारा बरसाया हुआ जल है उसको सबको लेने की छुट्टी है भगवान चांदनी बरसते हैं चंद्रमा के द्वारा और सूर्य के द्वारा ताप और प्रकाश देते हैं लेकिन उनका बिल आपके पास कभी नहीं आता न पानी का बिल न रोशनी का बिल न सांस का सांस लेने के लिए हवा मिलती है उसका बिल भी नहीं आता है नहीं तो पंखे का बिल एयर कंडीशन का बिल घर में आता ही रहता है और ये जो हम टेलीफोन पर बोलते हैं लाउड स्पीकर पर बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो पर आवाज आती है उसका बिल चुकाना पड़ता है परंतु हम अपने मुंह से बोलते हैं और आपके कान में पहुंच जाता है भगवान कभी इसका बिल नहीं भेजते कि तुम्हारी बोली हुई आवाज मैंने दूसरे के कान में पहुँचाई तो इतने निसर्ग सुंदर स्वभाव कोमल जो भगवान की लीला है उनका जो स्वभाव है उसका चिंतन करके और प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारे जीवन में जो अभिनय है अभिनय के कारण अपराध होते रहते हैं हमसे उन अपराधों को आप हमसे दूर कर दीजिए मिटा दीजिए और आप अपनी करुणा बरती है प्रार्थना के चार अंग होते हैं अपने दोषों का जैसे अभिनय का निवेदन और भगवान की कृपा का स्मरण और उनसे अपनी अभिष्ट वस्तु की प्रार्थना और उनके ऊपर निर्भर हो जाना जो तुम्हें पसंद हो सो करो ये प्रार्थना के चार अंग हैं तो ये चारों अंग इस सप्तवी में प्रकट होते हैं अभिनय अपनय विष्णु विष्णु का अर्थ है कह सकता हूँ कि हमारा मन पागल है हम बाहर कपड़े अच्छे पहनते हैं शरीर से ठीक ढंग से बैठते हैं पर यदि केवल मन की ही तस्वीर खींची जाए केवल मन का ही चित्र लिया जाए तो हमारा मन कहीं भी सुर से नहीं चलता स्वर से नहीं चलता है जिसमें कोई ताल नहीं है इसके बोलने में कोई संगति नहीं है हम बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं इस बात के बाद ये बोलना चाहिए पर मन जो हमारे भीतर बोलता है बिना स्वर के बिना ताल के बिना संगति के बिना किसी अवसर के ऊट पटान सोचता रहता है भले मानो ऐसे मन को अपने भीतर बताकर यदि कोई चाहे कि हम सुखी रहें शांत रहे हमको विश्राम मिले कैसे मिलेगा ये मन तो इतनी खटपट करता रहता है इतनी अटपटी चाल से चलता है चटपट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है तो ऐसे मन को हमें अपने अपने नियंत्रण में रखना है मन को मारना नहीं है मन मारा नहीं जाता है और मन को जेल खाने में बंद नहीं करना है न तो इसको योग की गुफा में समाधि में डालना है और न तो वेदांत की तलवार से मार डालना है ये मन अपने काबू में होना चाहिए इसका नियंत्रण होना चाहिए जो जिसकी जीव ही अपने काबू में नहीं है चाहे जो बोल देता है चाहे जो खा लेता है जिसके हाथ ही अपने काबू में नहीं है चाहे जो कर लेता है जिनके पाव ही अपने काबू में नहीं है जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं तो उससे ये आशा कैसे की जा सकती है कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही ठीक ठीक काम करता चलेगा क्योंकि जब पाँव काबू में नहीं हाथ काबू में नहीं जीप काबू में नहीं खाना पीना काबू में नहीं बोलना काबू में नहीं तो लेना देना कैसे काबू में होगा वो तो व्यक्ति तो अविश्वसनीय हो जाता है दुनिया के लिए समाज में भी किसी काम का नहीं रहता है जिसका मन अपने काबू में नहीं है क्या पागल हो के उछलना कूदना है दुनिया में तो हमारा मन तो ऐसे ही उछल कूद बचा रहा है अपने भीतर हाँ तो ये भी देखा हमने कि मन पर हम कितना भी जोर लगाते हैं हरिजू मेरो मन हटन सके यद्यपि देव या सिख बहुविधि करत सुधाव निजय मेरो मन हरिजो हट न सजय हे प्रभु मेरा मन हट नहीं छोड़ता है ये बहुत जिद्दी है जिस काम में बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है उसकी ओर जाने से भी ये चूकता नहीं है जुआ में हारते जाते हैं और खेलते जाते हैं शराब पीते बेहोश हो जाते हैं बुद्धि नष्ट होती है हमको बम्बई में मालूम पड़ता है कि चार बजे पाँच बजे शराब पी के लौटते हैं कह करते हैं नाली में गिर पड़ते हैं वो तो माताएं हैं पत्नियां हैं जो हर हालत में अपने पति का अपने पुत्र का साथ देते हैं संभालते हैं मालूम पड़ता है और कि जैसे जहर खाने से शरीर नष्ट होता है वैसे शराब पीने से बुद्धि अपने काबू में नहीं रहती परंतु हम अपने नियंत्रण को जब छोड़ देते हैं हमारे हमारी चीज हमारे काबू में न रहे तब हम अपने को ही एक अनिश्चित दिशा में फेंक देते हैं न जाने कहाँ जाके गिरेंगे और न जाने क्या नतीजा होगा तो ये जो मन की चंचलता है इस चंचलता के लिए योगियों ने तो बताया है कि अभ्यास करो वैराग्य करो बार बार अभ्यास करना माने दोहराना बारंबार अपने मन को अच्छे रास्ते से ले चलो अभ्यास माने होता है दोहराना और वैराग्य माने दुनिया में किसी से राग द्वेष मत करो किसी की मोहब्बत में मत फंसो आज मोहब्बत में फंसते हो अच्छा लगता है कल पराधीन हो जाओगे कल उसके गुलाम हो जाओगे तो जब मोहब्बत करते हो तो गुलामी की ओर बढ़ते हो और किसी से द्वेष मत करो माने नफरत मत करो क्योंकि नफरत करते हो तो हिंसा की ओर बढ़ते हो तुम्हारे हृदय में जलन होगी क्रोध आवेगा हिंसा करोगे मन से तन से धन से दूसरे को हानि पहुंचाओगे इसलिए राग द्वेष के चक्कर में हमारा मन न पड़े इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आप हमारे मन को शांत कर दें जैसे सधाया हुआ घोड़ा होता है घोड़े को घोड़े को जो लोग तो दिखा के रखते हैं और दाहिनी एड़ी उस पर लगाने से क्या करेगा कितनी दूर से चलेगा बाही एड़ी लगाने से क्या करेगा लगाम खींचने से क्या करेगा और एक खास तरह की आवाज देने से क्या करेगा सधाया तो हुआ घोड़ा जो होता है वो अश्ववार सवार अश्ववार के इशारे पर चलता है इसी प्रकार हमारा मन हमारे इशारे पर चलना चाहिए बस हमारा एक नौकर है मालिक नहीं है ये हमारे पास सोता है हमारे पास जागता है हमको सुख पहुंचाने के लिए है जब हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता हमारे निश्चय के विपरीत बुद्धि के विपरीत विचार के विपरीत जब काम करने लगता है और हम देखते हैं कि अतिशय प्रबल अजय ये तो बड़ा प्रबल है और इसको जीतना बहुत मुश्किल है तो जैसे अपना काबू जहाँ न चलता हो वहाँ बड़ों की सहायता ली जाती है पुलिस को बुलाया जाता है सरकार से कहा जाता है कि हमारी रक्षा करो इसी प्रकार हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे मन को हमारे वश में कर दो आप जानते हैं दुनिया में आजकल जो सबसे बड़ा मजहब चलता है जिसको ईसाई मजहब कहते हैं वो हमारे धर्म का जो एक अंग है प्रार्थना हमारे धर्म में तो नमस्कार भी एक अंग है नमस्कार भी एक अंग है जिस अंग को लेकर नमाज बनी है नमाम सी और प्रार्थना भी एक अंग है जिसको लेकर के प्रेयर बना है प्रेयर तो ये प्रेयर और नमाज दोनों हमारे धर्म के एक एक अंग है और ऐसे हमारे धर्म में अनेक अंग हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो भगवान से प्रार्थना करके अपने मन को दान सभाया हुआ घोड़ा बनाने के लिए कि जैसे हम कहें यहाँ रहो तो वहाँ रहे तो हम कह दे यहाँ सोचो हाँ कई तो इस बात पर सोचे हम कह दे देखो एक घंटे तक जैसे हाउस से बाहर मत जाना से छोड़ दो एक घंटे तक कलकत्ता शहर से बाहर मत जाना है आपके मन में इतना सामर्थ्य कि आप घंटे तक कलकत्ते में उसको रख लें या इस मोहल्ले में अलीपुर में रख लें तो ऐसा मन ऐसा नौकर जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता है वो कब क्या करेगा कैसी आपके सिर पे चढ़ बैठेगा इसका इसका कोई हिसाब नहीं हमारे एक मित्र थे बहुत पुरानी बात है सन्यासी होने से पहले आबकारी इंस्पेक्टर थे तो वो महाराज हमारी बात नहीं माने हो अपने नौकर की बात मानते थे तो मैंने एक दिन पूछा कि ऐसी नौकर की चिंता तुम्हारे जीवन में कैसे आ गई तुम तो बड़े समझदार आदमी हो बचपन के हमारे मित्र हो ये क्या हुआ तो बोले की पंडित जी मैं इसी के द्वारा शराब मंगा के चोरी से पीता हूँ और इसी के द्वारा किसी से रिश्वत लेनी होती है घूस तो इसी के द्वारा लेता हूँ और इसी के द्वारा मैं परस्त्री मंगाता हूँ तो यदि मैं इसकी बात न मानू तो ये तो मेरी फोल पट्टी खोल देगा इसलिए हमको इसकी बात मान के चलना पड़ता है अब आप अपने मन के बारे में सोचो आप अपने मन की अपने मन से गलत गलत काम लेते हो इसलिए वो आपके सिर पे सवार हो गया है और जहाँ उसकी मर्जी होती है वहाँ ले जाता है अब इसको समझाने के लिए मारने के लिए नहीं जेल में डालने के लिए नहीं जिसको आज्ञाकारी बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अभिनय अपनय विष्णु समय मन समय विषय मृग कृष्ण भूत दया विस्तार संसार सागरत ओ